नमस्कार मित्रों ये वीडियो नक्सलवाद कैसे बहुत ही कम खर्चे से और कम से कम समय में कमजोर किया जा सकता है उसके ऊपर है और खास तो ये वीडियो इतना इसलिए बनाया कि साधारण सा सॉल्यूशन दिया लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता जो कि आदिवासियों के हमदर्दी है हिमांशु कुमार है और अरविंद गांधी है जो कि गरीबों के भारत के सारे गरीबों के शुभचिंतक हैं उन्होंने विरोध किया और इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को बना दूं जो मैंने सुझाव दिया वो ये कि हरेक आदिवासी को 2000 रुपए का टच स्क्रीन का मोबाइल हर महीने 500 मिनट का टॉक टाइम और 500 मेगाबाइट डेटा उसको फ्री में दिया जाए तो इससे नक्सलवाद कैसे कम हो सकता है कि इससे गरीबी कम हो जाएगी गरीबी कैसे कम होगी मोबाइल आने से और फ्री मोबाइल आने से क्योंकि उनके पास 2000 नहीं है मोबाइल खरीदने के कि आजकल एक एग्जांपल दूं कि आदिवासी है वो जंगल में से बांस काटते हैं और वो बांस होलसेलर को बेचते हैं दो रुपए में तीन रुपए में और वो शहर में बिकता है चालीस पचास रुपए में वही बांस तीस चालीस पचास रुपए में तो अब आदिवासी वो रिटेलर को सीधा क्यों नहीं बेचता है तो रिटेलर आदिवासी से सीधा क्यों नहीं खरीदता क्योंकि दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन लिंक ही नहीं है आदिवासी को पता नहीं है कि शहर में या गांव में कहाँ रिटेलर है उसका नाम क्या है उसका फोन नंबर क्या है वो उसको बांस की जरूरत है या नहीं अभी मैं उसके पास लेके जाऊंगा और उसके पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है तो वो मेरा खरीदेगा नहीं मुझे धक्का हो जाएगा और जो दुकानदार है उसको पता नहीं है कि कौन कौन आदिवासी है जो कि बांस बेचने रहे हैं उसके पास कितना सप्लाई पड़ा है अब दोनों के पास मोबाइल आ जाए दुकानदारों के पास तो मोबाइल है ही तो आदिवासी है वो पता लगा सकता है कि उसके पास जो बेचने लायक चीज है कौन कौन उसको खरीदने वाला है ज्यादा दाम दे सकते हैं तो वो खुद बेचने की कोशिश करेगा आपस में छोटे मोटे ग्रुप बना लेंगे उनमें से कोई आदमी है जो कि खुद गांव में एक बार या शहर में एक बार जाएगा सबके बांस लेके तो डाउन द लाइन क्या होगा कि जो होलसेलर आज उनको तीन रुपया दे रहा है वो अपना भाव बढ़ा देगा दस रुपया देगा पांच रुपया देगा सात रुपया देगा तो गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी दूसरा कि सिटी में आप देखो लेबर ऑलरेडी दो सौ रुपया है दिन का अधिकतर शहरों में आदिवासी एरिया में बीस रुपया भी नहीं है क्योंकि वहां काम ही नहीं है लेबर का रेट बीस रुपया भी नहीं है दिन का यहाँ पे जब कोई त्योहार आता है होली हो दिवाली हो तो सात दिन पहले और सात आठ दस दिन तक बाद अहमदाबाद में लेबर मिलता ही नहीं है और जो यदि किसी को चाहिए तो उसको दिन का चार सौ पांच सौ रुपया देना चाहिए पड़ता है बर्तन साफ करने जैसे काम के लिए तो उस समय जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो तैयार होता है कि कि यदि कोई आदिवासी आना चाहता है तो उसको बस का किराया दे, यहाँ झोपड़पट्टी में रहने का इंतजाम दे, खाना पीना भी दे, और दिन का उसको 200-300 रुपया दे क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर को 400-500 मिल रहे हैं दिन के। तो पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास तो मोबाइल है पर आदिवासी के पास मोबाइल नहीं है आदिवासी को पता नहीं है कि कौन लेबर कॉन्ट्रैक्टर है जिसको लेबर की शॉर्टेज हो रही है इसलिए वो कांटेक्ट नहीं है दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है दोनों में तो एक सीधा सा मैंने बोला तो सुझाव दिया कि लेबर की डिमांड है दिन में 200 रुपया लोग देने को तैयार है और वहां ऐसे लोग हैं जहां उनको दिन के 20 रुपये नहीं मिल रहे तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर 200 देने को तैयार है और जो आदमी के पास 20 रुपये नहीं मिल रहे दिन के दोनों के पास मोबाइल हो तो गैप कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जिसको बीस मिल रहा है उसको सौ डेढ़ सौ मिलना शुरू हो जाएगा फिर तो इसलिए हरेक और हरेक आदमी को मोबाइल देना बहुत मुश्किल भी नहीं है ऐसे पिछड़े इलाकों में कुछ पूरे देश में दस करोड़ आदिवासी है करीब करीब उसमें से सभी गरीब है ऐसा नहीं है सात एक करोड़ बहुत गरीब है सात करोड़ को यदि दो हजार का मोबाइल फोन फ्री में देता है तो हजार का चौदह हजार करोड़ का खर्चा आया जो कि पूरी जीडीपी का वन परसेंट का वन थर्ड भाग है एक परसेंट का वन थर्ड है यानी 0.33 परसेंट थर्टी थ्री परसेंट नहीं 0.33 परसेंट पूरी जीडीपी का देश के जीडीपी का और सरकार का टैक्स कलेक्शन है केंद्र सरकार अकेले का टैक्स कलेक्शन है आठ लाख करोड़ तो उसका भी ये कोई बहुत एक परसेंट हिस्सा हुआ आठ हजार करोड़ यानी ये दो परसेंट से कम हुआ जितना पैसा सरकार गेहूं चावल के पीछे खर्ती है और उसका आधे से ज्यादा गायब हो जाता है इससे कम खर्चा है और ये ऐसा कहे कि मोबाइल उन तक पहुंचेंगे नहीं चोरी हो जाएंगे ऐसा नहीं है क्योंकि ये 2000 वाला जो मोबाइल है उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है मान लो किसी तहसीलदार ने ये 2000 रुपए का स्क्रीन वाला मोबाइल यदि ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की तो उसको सौ रुपए भी नहीं मिलने वाले इस तरह के मोबाइल के सेकंड हैंड मोबाइल के ब्लैक मार्केट मोबाइल के तो ये मोबाइल 90 परसेंट एटी ट्राइबल तक पहुंचेंगे यदि चार करोड़ आदिवासियों को मोबाइल दिया जाए तो हरेक परिवार के एडल्ट को मोबाइल मिल जाएगा पांच करोड़ एडल्ट आदिवासी है भारत में पूरे तो जैसे ही उनके पास फोन और जो 500 महीने का टॉक टाइम है महीने का वो भी फ्री उसका क्यों खर, खर्चा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी फोन कंपनियों के पास बहुत बड़ी आइडल कैपेसिटी है टावर डालने पड़ेंगे उनको बहुत सारे एरिया में उन्होंने टावर नहीं डाले अब उसका उनको खर्चा नहीं आने वाला दूसरा लेबर कॉन्ट्रैक्टर जब उस आदिवासी को फोन करेगा तो इनकमिंग कॉल हो गया एक तरह का तो ऑटोमेटिकली उससे सरकार को सर्विस टैक्स मिलेगा थोड़ा बहुत पैसा तो मिलेगा ही और बहुत सारी आइडल डेटा कैपेसिटी भी है तो महीने का 500 मेगाबाइट का जो डेटा उसको फ्री में दिया वो भी सरकार को कोई एडिशनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट इसकी नहीं आएगी अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आया कि भाई वहां पे गांव में बिजली नहीं है तो मोबाइल कैसे चलेगा तो अब सोलार चार्जर आते हैं कि सोलार के द्वारा वो बैटरी मोबाइल फोन को चार्ज कर सके उस तरह के चार्जर आते हैं आदिवासी मोबाइल चलाना कैसे सीखेगा टच स्क्रीन का मोबाइल है वो अनपढ़ गवार आदमी आपने देखे होंगे आपके आसपास आप देखोगे तो मिलेंगे आपको अनपढ़ लोग जो कि टच स्क्रीन वाला मोबाइल ठीक ठाक यूज कर सकते हैं कुछ नहीं तो फोन तो कर ही सकते हैं वो फोन नहीं वो एसएमएस भेजना भी सीख जाते हैं क्योंकि एसएमएस अब लोकल लैंग्वेज में भी भेज सकते हैं हिंदी में भेज सकते हैं लोकल लैंग्वेज में भेज सकते हैं कुछ नहीं तो टूटी फूटी भाषा में कुछ तो बोल सकते हैं कि भाई नौकरी का मतलब कि मैं लेबर के लिए अवेलेबल हूं या तो मेरे पास ये बेचने के लिए सामान है और एक टाइप के बाद तो उनका एक छोटा सा नेटवर्क बन जाएगा जिसमें वो एक दूसरे को फोन करके इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि भाई यहाँ चीज ये चीज का ये दाम है यहाँ ये चीज का ये दाम है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी मोबाइल फोन चल सकता है सोलर चार्जर से उनके पास उनको एडवांस ट्रेनिंग नहीं है पर टच स्क्रीन वाला मोबाइल चलाना सीख जाएंगे और दूसरा क्या होगा कि अभी नक्सली क्या करते हैं कि वो मोबाइल टावर को उड़ा देते हैं और आदिवासी सोचते हैं भाई मेरे क्या नुकसान पड़ता है टावर उड़ा दिया लेकिन यदि आदिवासी खुद के पास सेलफोन है और यदि नक्सली मोबाइल टावर को उड़ाता है तो आदिवासी नक्सली का दुश्मन बन जाएगा कि भाई ये मोबाइल टावर की वजह से मैं पूरी दुनिया को कॉन्टेक्ट कर पाता था और तूने जो मोबाइल फोन का टावर उड़ाया उससे मुझे नुकसान हो रहा है इसलिए अब तू मेरा दुश्मन है मैं आपको इसका एक अलग से एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा कि ब्रिटेन ब्रिटिश सरकार ने क्यों बहुत ही छोटे बहुत ही कम दाम लेके पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू की उन्होंने ट्रेन की सर्विस शुरू क्यों की थी ताकि कच्चा माल खान आयरन और है कोयला है वो पोर्ट तक बॉम्बे तक या अलग अलग पोर्ट तक पहुंचाया जा सके ताकि वहां से ब्रिटेन भेजा जा सके उन्हें भारतीयों के लोगों को आने जाने की सुविधा देने का उनका प्लान ही नहीं था लेकिन क्यों उन्होंने सुविधा देनी शुरू की कि उन्होंने देखा कि ये ट्रेन लाइन इतनी पूरी लंबी बाहर पड़ी है एक एक सौ सौ मीटर पे हम पुलिस वाला रख नहीं सकते तो यदि क्रांतिकारियों ने ट्रेन लाइन उड़ानी शुरू कर दी तो लोग उनको रोकेंगे नहीं इसलिए लोगों को ट्रेन का उपयोग करने दो ताकि लोग अपने आप को ट्रेन से आइडेंटिफाई करें कि भाई ये ट्रेन मेरे काम आ रही है तो अब कोई ट्रेन की पटरी उड़ाएगा तो दूध वाले से लेके हर एक आदमी उसका दुश्मन बन जाएगा कि भाई तूने ट्रेन की पटरी उड़ाई उसकी वजह से आज मुझे इतना नुकसान हुआ तो यही मोबाइल टावर का मैं बोलता हूं कि मोबाइल टावर का आज आदिवासी उपयोग नहीं कर रहा इसलिए नक्सली जब मोबाइल टावर उड़ा देता है तो आदिवासी बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ा पर यदि नक्सलवादी यदि आम गरीब आदिवासी मोबाइल टावर का इस्तेमाल कर रहा है तो नक्सली उसको उड़ा नहीं पाएगा तो मोबाइल टावर अब टिका रहेगा टिका रहेगा तो मोबाइल टावर की वजह से और वहां पे जो उद्योगपति है दुकानदार है वो भी इसका उपयोग कर पाएंगे तो विकास की रफ्तार और बढ़ जाएगी अब ये वीडियो बनाने का खास कारण क्या था कि ये सुझाव जब मैंने उनके मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को दिया जो कि आदिवासी वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो वो अपने नेताओं के पास ले गए अरविंद गांधी के पास हिमांशु भाई के पास तो मैंने बोला क्या रिव्यू दिया तो कि उन्होंने तो इसका अच्छा मजाक उड़ाया मैंने कहा क्या मजाक उड़ाया तो कि भाई तुम गरीब ट्राइबल को मोबाइल फोन इसलिए फ्री दे रहे हो ताकि वो डोमिनो का पिज्जा मंगा सके क्या करेगा वो मोबाइल का उसको अनाज चाहिए उसको एजुकेशन चाहिए उसको दवाई चाहिए तुम मोबाइल दे रहे हो मतलब उन्होंने इस सॉल्यूशन का बहुत अच्छा मजाक उड़ाया कि आप मोबाइल फोन देके क्या करना चाहते वो डोमिनो पिज्जा मंगाएगा मोबाइल से पर ये उनके आर्ग्यूमेंट एकदम घटिया है क्यों क्योंकि मैं उससे कुछ छीनने की बात नहीं कर रहा मैंने ये नहीं कहा कि उसको खाना मत दो उसको एजुकेशन मत दो उसको दवाई नहीं दो मैंने कहा कि पहले उसको मोबाइल दे दो क्यों क्योंकि वो सबसे सस्ता है एजुकेशन में सस्ते से सस्ता स्कूल खड़ा करना हो तो भी सरकार को प्रति स्टूडेंट में साल के चार हजार रूपये खर्च करने पड़ते हैं जमीन की कीमत अलग बिल्डिंग की कीमत अलग जो डे टू डे खर्चा आता है स्कूल के रिपेयरिंग का टीचर की सैलरी का वो खर्चा आता है पर स्टूडेंट साल के चार हजार का अस्पताल खड़ी करनी हो तो डॉक्टर की सैलरी नर्स की सैलरी डॉक्टर को कन्विंस करना कि वो अस्पताल में कम से कम हफ्ते में तीन दिन जाए उसका भी खर्चा आता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है दूर दराज इलाके में गेहूं चावल पहुंचाना नीचे के अधिकारी सब रिश्वत खोरे गेहूं जाता है आधा खा लेते हैं बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में जबकि मोबाइल चीज ऐसी है कि वो कुछ एक महीनों में एक एक आदमी तक पहुंचा सकते हैं कि और वो इस तरह से कि भाई जो मोबाइल इश्यू होता है तभी उसके ऊपर व्यक्ति का नाम उस मोबाइल के हर एक मोबाइल के अंदर e कार्ड नंबर आ गया तो उस आई नंबर e के साथ वोटर नंबर या तो उस व्यक्ति का नाम साथ में लिखा होगा यानी फ्यूचर में वो आईएमई कार्ड e किसी और के पास मिलता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा मतलब मैंने जो पूरा उसका सिस्टम डिस्क्राइब किया वो इस तरह से था कि मान लो ये सर ये मोबाइल मुझे सरकार फ्री में दे रही है तो इसका जो आई नंबर है वेबसाइट पे वो नंबर होगा और साथ में मेरा नाम और मेरा वोटर नंबर होगा यानी फ्यूचर में ये मोबाइल किसी और के पास मिलता है तो तुरंत इस मोबाइल की सर्विस बंद कर दी जाएगी छीन लिया जाएगा तो इस तरह से ये एक बार इस मोबाइल के आईएमआई नंबर के साथ मेरा नाम परमानेंटली टैग हो गया लाइफ टाइम कि ये मोबाइल है वो जला जाएगा फूक दिया जाएगा पर सेकंड हैंड मार्केट में नहीं बिकेगा किसी और के पास नहीं रहेगा तो इसके ब्लैक मार्केट में इसकी वैल्यू खत्म हो गई तो अब इसको क्यों कौन चोरी करेगा और क्या करेगा चोरी करके रद्दी में ही फेंकना पड़ेगा उसको बेच तो सकता नहीं है ये दूसरा टैग कर दो कि ये मोबाइल अहमदाबाद के बाहर चलेगा ही नहीं तो इसका मतलब मुझे ब्लैक मार्केट में बेचना पड़ेगा तो अहमदाबाद में ही बेचना पड़ेगा मतलब कि टारगेटेड जिसको बोलते हैं कि एक चीज जिसके नाम की है उसी तक पहुंचे किसी और के पास ना जाए वो मोबाइल में करना मुमकिन भी है तो इस तरह से मोबाइल एक एक आदमी तक पहुंचाना सरल काम है दो तीन चार महीने के अंदर हो सकता है कम समय में हो सकता है पर वो इस काम को क्यों नहीं होने देना चाहते क्योंकि यदि हरेक गरीब आदमी के पास मोबाइल आ गया आदिवासी के पास मोबाइल आ गया तो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करेगा तो वो उनके पिंजरे में से निकल जाएगा आज जो जो अरविंद भाई का तर्क है कि भाई ट्राइबल को आदिवासी को मोबाइल नहीं मिलना चाहिए उसको खाना मिलना चाहिए पहले उसको खाना दो फिर उसको मोबाइल यानी मोबाइल अगले जन्म में दो वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आदिवासी अपने पैर पे खड़े हो यदि आदिवासी के पास मोबाइल आएगा तो वो खुद अंटर छोटे मोटा अपना उसको वो जो चीज आज बेच रहा है वो वही चीज किसी और को बेचेगा अच्छे दाम में तो वो समृद्धि उसकी बढ़ती जाएगी तो वो अपने आप वो ये सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की चुगल में से निकलना शुरू करेगा तो ये सारे सामाजिक कार्यकर्ता उपाय क्या बताते हैं कि सरकार है वो संगठनों को पैसा दे और संगठन आदिवासी तक पहुंचाएंगे क्योंकि वो कहता है कि डायरेक्ट तुम आदिवासी तक पहुंचाओगे तो आदिवासी तक पहुंचा गए नहीं बीच के अधिकारी खा जाएंगे इसलिए वो सारा ग्रांट है वो संगठनों को कॉर्नर करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि भाई आदिवासी को जंगल के बाहर मत निकलने दो क्योंकि जैसे जैसे आदिवासियों के पास मोबाइल वगैरह आता जाएगा वो देखेंगे भी शहर में यहाँ नौकरी मिल रही है शहर में इतनी समृद्धि है वो निकलने की कोशिश करेगा और वो नहीं चाहते कि आदिवासी जंगल छोड़ के जाए क्योंकि आदिवासी जंगल छोड़ेगा तो वो माइनिंग कंपनी आएगी इनमें से बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से विदेशियों से इसलिए पैसा मिल रहा है क्योंकि विदेशी कंपनियां नहीं चाहती कि भारत की माइनिंग कंपनियां वहां जाए इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनियों को मिले जिस दिन विदेशी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ये सारे सामाजिक कार्यकर्ता वो जंगल छोड़ के चले जाएंगे वो अपना विरोध बंद कर देंगे वो विदेशी कंपनियों से उनको उनको पैसा वो विदेशी कंपनियों से आ रहा है वो विदेशी कंपनियों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं दूसरा मैंने एक तरीका बताया ये तो था मोबाइल देने का दूसरा मैंने बोला कि बांग्लादेशियों को भगाओ भारत में जो एकाध करोड़ बांग्लादेशी घुस गए हैं, तो ऑटोमेटिकली एक करोड़ आदिवासियों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। आज दिल्ली में कंस्ट्रक्शन लेबर, गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन लेबर में इलीगल गैरकानूनी बांग्लादेशी घुस गए हैं। दिल्ली में जो हाउस होल्ड लेबर है, झाड़ू पोछा करने वाला, उसमें बड़े पैमाने पर गैरकानूनी बांग्लादेशी घुस गए हैं। यदि उनको निकाल दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक करोड़ आदिवासियों को ये सारी नौकरियां करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसका भी वो गोलमटोल जवाब दे रहे हैं कि भारत में बांग्लादेशी है ही नहीं वो सब बंगाल के ही है वगैरह पश्चिम बंगाल के ही है तो उनको निकालने की बात मैंने कभी की भी नहीं आज भी नहीं कर रहा पर वो सारे सामाजिक कार्यकर्ता एनजीओ चलाने वाले जो है वो बांग्लादेशियों को भारत में से निकालने की बात का विरोध करते हैं ऊपर से कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि बांग्लादेशियों को यदि आना है तो हमें रोकना नहीं चाहिए क्यों क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोगों को सऊदी अरेबिया से बहुत सारी ग्रांट मिल रही है उनको पता है कि यदि उन्होंने बांग्लादेशियों को विरोध किया तो सऊदी अरेबिया से आने वाली ग्रांट कम हो जाएगी और इसलिए वो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं तो मैंने दो सोल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया एक हर एक आदमी को फ्री में मोबाइल देना दूसरा बांग्लादेशियों को भारत से बाहर बखाना मोबाइल आने से आदिवासी की समृद्धि बढ़ जाएगी वो लेबर मार्केट में तक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी बांग्लादेशी एक करोड़ दो करोड़ जितने भी भारत में उनको भगा दिया जाए तो उतनी दो करोड़ नौकरियों की अपॉर्चुनिटी आदिवासियों को मिलेगी और इस तरह से उनकी गरीबी कम होगी नक्सलवाद कम होगा धन्यवाद